دل عليك التكل فإذا فسدعيك تتكل ولي القلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوعد وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you. प्यार भाइयों दोस्तों अल्लाह ने खुद पाक जबान से करवाया आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है और एक भी अकेला भी कहता है समझ उसको कहते कि हर एक उसका मकसद वो किसका मकसद कोई आदमी अकेला होता है अफसर है कोई लीडर है कोई घर का है तो हर बड़े को छोटे की जरूरत पड़ती है बड़ी से बड़ी बड़ा खा खाना उसको छोटी मछली की जरूरत बहुत बड़ी मछली उसको छोटे छोटे की जरूरत ये अल्लाह ऐसा अकेला है कि हरेक तो उसकी जरूरत वो आसमान दुनिया के मखलूक हो जमीन में हो समंदरों में हो पहाड़ों में हो चूटी हो जिबरील हो जिबरील तो बहुत बड़े मखलूक हैं इसीलिए फलसवा जो हजरत सल्लल्लाहु के पास आने से अल्लाह पाक ने रोक दिया था क्यों इंशाला उनका कि अल्लाह के चार बगैर तो कुछ होता ही नहीं लोगों ने आपसे पूछा था कि हम आपका कलमा पढ़ लेंगे आपको अल्लाह का नबी मान लेंगे आप हमको ये बताइए कि अठावे तरफ कौन थे आपने फरमाया कि कल को बताऊंगा जिनमें तो आपकी वही लेकिन अल्लाह का है इंग्रेज आदमी ख्याल ये था कि भीड़ लाते हैं हम सबको लोग बता देंगे लेकिन आपने इंशाला नहीं करी हमारे सारे साथी अब सब इंशाल्लाह तो कहते ही नहीं अरे भाई वो जमा तारीख भी मैं ले आऊंगा अरे भाई वो मैं मैं कर दूंगा मैंने नहीं मैं हूं अल्लाह मैं आपको तो बीच में लाते ही नहीं और जो जितना पुराना उसको बुरा लगे माफ कर देना अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होगा आज तक हुआ है अब हो रहा है न होगा अल्लाह कुछ कर तो पंद्रह दिन तक जिबिल अमीन अली सलात मुस्लिम नहीं आए लोगों ने ताने देने शुरू किए तब तो लोग बहुत करते हैं ना तो जरा कोई बात हो तो काम चार महीने लगाए मुल्कों का सफर कर गया है और भारत तो गायब हो गए जिम्मेदार जुमेरात में न बुद्ध में न तो शहर लोगों को ताना देने तो बता और ताना देने वालों के लिए हलाकत की बदवा वही युद्ध के लिए मतलब और औरतों से तो में नजर आई क्यों तत्व और तत्पुर नल आपस में को बहुत करती होते माँ अच्छी से खाला तरह नाना तेरा तेरे मियाँ और ना पढ़ने तो अब लोगों ने तो जब लोगों की बातें बहुत होती है ना तो आदमी को दूर पड़ता है बहुत गली से जाते मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह आजकल कुछ हो गई जाओ आपकी आपके रंग से लड़ाई हो गई क्या दो आदमियों में पक्की दोस्ती हो और किसी वजह से उनमें विदाई हो जाए दोनों को एक दूसरे की विदाई का भ्रम होता है वो भी सोचता है इस विदाई का जितना भ्रम है उससे ज्यादा लोगों के एक साथी खड़ा है दोस्त खड़ा है एक उसका दोस्त जा रहा है खाना भी उसके घर जाता था आज भी वही होता था हर वहाँ बैठना अब लड़ाई हो गई तो दोनों को एक दूसरे का गम तो है लेकिन कोई नहीं वो जा रहे हैं जिनके बगैर रुकना नहीं करता था तो लोगों के कहने से तबियत बहुत बहुत दूर पड़ा चारों तरफ से जिस गली से जिस से जहाँ बैठे हैं जहाँ जा रहे हैं जहाँ चारों तरफ से ताने ताने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके रब से लड़ाई हो गई उनके रब ने उनको छोड़ दिया आदमी पर जब कोई होता है तो आदमी चादर हो ही रहता है घरों के लंबे पैर अंदर ही अंदर सोचता रहता है रहता हो ये मैं करते पर था वो हुआ ये हुआ आदमी सोचता अपने लेकिन हजूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कयामत तक का इंसान ने अपनी तरबियत का काम लेना था सारे बंदों बंदों बंदियों की तरबियत करानी थी तालीम भी और तरबियत भी आपने तो जाकर ताल ली अल्लाह पाक ने والليل ये क्या किया आपने राजस्थान के लंबे लड़के इसीलिए इनके लोग बहुत बातें करते हैं लोग ताने देते हैं अरे अपना भेजा एक भेजे अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे तकलीफ पढ़ते रहेंगे शैतान बहुत से रात को क्या आता है अपनी में पाँच वक्त की नमाज पढ़ लेंगे तकलीफ सुबह और शाम के और सब लोग पता नहीं क्या अल्लाह पाक ने आपको सजा नबी ये क्या कर रहे हैं आप ये चादर टांग के लंबे लेटने का वक्त है उमिल या यह मुजम्मिल या यह मुदस्सिर कमरे ओढ़कर लेटने वाले खड़े हो जाइए ये तो वक्त है काम करने का इसलिए कहते हैं कि काम करने वाले जो काम करते हैं कुर्बानी होते हैं अपने जज्बात को कुर्बान करते हैं सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं क्या काम से देखा नहीं जाता वो तरह तरह की चीजें लाता है आदमी को मायूस कर देता है अपने काम ये उसका वक्त नहीं है ये तो वक्त है काम करने का कपली ओढ़ कर लेसने वाले उठ खड़े हो जाइए और अंधेर खड़े होइए लोगों को बाखबर कर दीजिए आदमी कोई रास्ता जा रहा हो आगे रास्ते में खतरे हैं तो आने वाले को ये आदमी जो जा रहा है वो आने वाला इसको बतावे कि भाई तुम जा तो रहे हो लेकिन आगे ये खतरा है इसके ये उसके साथ सहकारी हजरत ईसा इब्न मरियम सयात तस्वीर के बाद से 600 साल तक लोग अल्लाह ही को नहीं जानते थे जिसने आंखें दी कान दिए हाथ दिए पैर दिए पैदा किया और जिसम और रूह दो का मजमुआ बनाया ये दोनों के तकाजे और दोनों के हालात तो जानते ही नहीं थे आप और जिसको जो पसंद आया उसने उसी के सामने माथा फेंक कैसा बहुत बड़ी है हुकूमत बहुत बड़ी चीज है इसलिए मौलाना मोहम्मद मुख्तार रखना है ऐसी बात फरमाते ये जो कुरान की सूरतों में शुरू के स्वरूप है ना अलीफलाम तमाम मुफसरीन ने कहा आलम के मुराद इस अल्लाम से अल्लाह की क्या मुराद है वो अल्लाह जानते आप आया आयम साहब से क्या मुराद है वो अल्लाह जानते हम इसलिए पहले अपनी जहालत का इकरार करो तो फिर इल्म आएगा और पहले दिन से मैं तो खुद जानता हूँ जी मैं समझ गया राहुल समझ गया मैं काम समझ गया तो ये काम तो समझने की भी कोशिश नहीं करेगा काम में आगे बढ़ेगा भी नहीं और लट का लट फिरता रहेगा इसलिए शेख शादी रखमतुल्ला ने फरमाया आकस के भूमिदान भूमिदान अब दह दह मुरक्कब भरना एक आदमी के पास दिल नहीं है जानता नहीं है और वो उनका कहा है सब जानता हूँ जैसे बाद मरतबा मुंबई जश्न होता है ना उसकी मुलाकात में गए सलाम वालेकुम जी जी जी अच्छी बात है मैं जानता हूँ बड़ा वालेकुम सलाम उसने वहीं से कह दिया मैं सब जानता हूँ तो शेख काफी रहमत फरमाते हैं कि जो जानता है नहीं और उसको ख्याल ये है कि मैं जानता हूँ वो तो कभी इल्म की राह पर आएगा ही हमेशा जाहिर रहेगा और इन सबसे पहले है सीखना क्या तो मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खाली अलीकलाम में नहीं है कुरान के मानने वालों को जैसे हमने नाम कल आम तो वलकदर खैरी व शक्ति ताला वलबास बाद मौत इस पर हमारा ईमान को कि अल्लाह को माना फरिश्तों को जो फरिश्ते कहाँ है तो अल्लाह के गैर में इंसान से गैर में आंखों के उजल बैठे नहीं है और उसको ऐसा मानो जैसे आंखों से देख कर किसी उससे भी ज्यादा यकीन करो इसलिए सबसे पहले ईमान को रह होगा तुम्हारा किताब थे नीम और ये सारे थे अल्लाह पाक अल्लाह रसूल को और अल्लाह की किताब के मानने वालों को ये सबक पढ़ाना चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा जो कुछ है या तो कोई चीज एक हरफ की है या दो हरफों की है या तीन हरफों की है पैसा कितने हरफ हैं है? अरबी में सोने को कहते हैं जहर कितने अरब हैं सोना चांदी पेट्रोल हुकूमत अल्लाह के अलावा जितना जो कुछ है या शहर की है या तीन अरब है या चार अरब है या पांच अरब है या एक अरब है इसकी हकीकत क्या है इसकी तासीर क्या है इसमें नफा कितना है नुकसान कितना है इस सारे को सिर्फ अल्लाह जानता है इसलिए तुम्हें ईमान न हुकूमत पर बनाना न सोने पर बनाना न चांदी पर बनाना न रुपये पैसे पर बनाना न कारखाने और नौकरी और जॉब पर अल्लाह एक है अकेला दिन है सबसे पहले लेकिन आगे जो कुरान का सार इस बारे है वो सारे गुण के लिए दिए गए लेकिन जिसम जो है ये अल्लाह पाक ने इंसान को जिसम वो दो चीजों पर चार महीने में जिसम माँ के पेट में तैयार होता है चार महीने के बाद की परीक्षा को लोग डालता है दोनों एक मुद्दत तक अपनी जगह रहते हैं माँ के पेट में बच्चा रहता है जब वहां का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर जमीन पर आता है अब ये आया दोनों चीजों के साथ जिसम में आंख भी है और उस आंख की रूह भी है जो आदमी अंधा हो जाता है तो उसकी आंख खत्म हो जाती है आंख होता तो है उसकी रूह खत्म हो जाती है जो गहरा होता है उसके काम खत्म हो गए उसकी रूह खत्म हो गई जो आदमी लूजा होता है तो हाथ खत्म हो गया तो हाथ के अंदर की रूह ये बताया कि तुम जिसम और रूह के साथ दुनिया में आए हो अब दोनों के अपने अपने तफाते हैं आंख देखना चाहती है जबान बोलना चाहती है पेट खाना चाहता है कान सुनना ये तकाजे ये जिसम आया था तो एक हाथ का पेड़ हल्का था अब ये ये बढ़े इसकी आंखें खुले इसके कान इसके हाथ लंबे हों पैर लंबे हों ये लंबा हो ये मोटा हो ये चौड़ा हो इस जिसम के तकाजे इसके तबादलों के लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया का सारा सामान सूरज की रोशनी चांद की रोशनी सितारे आसमान जमीन जमीन के जमीनों की पैदावार समंदरों की पैदावार मछलियाँ तो सारी चीजें जिस भी जितनी इस जिसम को विदा मिलेगी उतना इस जिसम ये बढ़ेगा एक वक्त ऐसा होता है कि माए खाना नहीं खिलाती अभी छोटा है एक जमाने तक तो इसको दूध खिलाती हम सब पी चुके हैं और भाई तो हम सब व्यर्थ है उसे प्यास व्यर्थ है उसे पेशाब आता है उसे पीने का पतागा होता है ये माए ये मासूम इस मासूम बच्चे के जिस्म की रिजा उसको मिलना है सबसे पहले माँ की छाती का दूध और हम कहते हैं कि इस दूध में इस जिसम को जितने विटामिन चाहिए और जो जो पूजा चाहिए आंखों को कानों को हाथों को पैरों को वो सारी विजाएं अल्लाह ने माँ के रूप में जमा कर दी अब ये माँ के बच्चा दूध पीता रहेगा दो साल ढाई साल डेढ़ उसकी उतर वो उसकी विजा है अजीब बात फरमाते थे कि जिस तरह मासूम बच्चे की तमाम जरूरतों को माँ के दूध में अल्लाह पाक ने जमा कर दिया अम्बिया किराम और रसूल राम तस्लिमात पूरी जमात मासूमों की जमात नदी मासूम हो चुकी कि अब ताजिरों की काशकारों की मादारों की गरीबों की जवानों की बूढ़ों की लड़कियों की लड़कों की मशरक वालों की जो आदम का बेटा जो आदम की बेटी दुनिया में आएंगे उनकी तरबियत का सारा सामान वो नबियों वाली तालीम है इसलिए कि आप आला किस्म का खाना खाओ तो जिसम का इससे जिसम बढ़ता है मोटा होता है चर्बी बढ़ती है खून आता है लेकिन ये ये विधा रूह तक नहीं जाती रूह तक नहीं जाती और असल जिसम और रूह में असल रूह है जिसम तो खुले कमिन तुरा सुरमा इलत तुरा मट्टी से बना है एक दिन मट्टी हो जाएगा खत्म ये हालात जितने आते हैं वो रूह पर आते हैं सुकून के चैन के बेचैनी के परेशानी के राहत के तकलीफ के वो सारे रूह से मुताबिक होते हैं तो जिसम की विजा तो बनाई कायनात की चीजों को इससे जिसम बढ़ेगा लंबा होगा चौड़ा होगा मोटा होगा ये और दूर की गजा यस रंगी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपको रूह के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए मेरे रब के हुक्म से है अल्लाह के कि रूह की रिजा जो है वो अल्लाह के अवामिल वो कुरान करीम जो इस्लाम से लेके वन्नास तक सारे अहकाम हैं हलाल हराम जायज नाजायज अकीदा इबादत अखलाक मामला रहन सहन शादी ब्याह अंधेरा उजाला माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे रिश्तेदार पड़ोसी रोजमा आवाम आवाज ये सारे इंसान हैं उन सब के तकाजे वो रूट से मुताबिक है और रूट इसको अदा जब करेगी आदमी इसको अदा जब करेगा जब कुरान के हुक्मों वाली जिंदगी जिएगा वही मेरी बातें समझ में आ रही है ये जिसम जो है इसके तो लंबाई चौड़ाई की एक हद है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है और अगर ज्यादा मोटा हो गया तो फिर ऑपरेशन करवाता है सर्दी भी करवाता है पेट बड़ा हो गया तो चलना मुश्किल के जिसम की तरफ की एक हद है वो एक हद पर जाकर रुक जाएगा और जब इसमें से रूह निकल जाएगी तो ये मट्टी का ढेर हो जाएगा लेकिन रूह की तरफ की कोई हद नहीं है इसीलिए अध्याय किराम जो मासूमों की जमात है जैसे मासूम बच्चे के लिए माँ का दूध उसमें सारी चीजें आंखों की विदा कानों की विदा हाथों पैरों की विदा जब माँ के दूध में जमा कर दी तो ऐसे तमाम इंसानों की रूहों की तरबियत रूहों की तरक्की रूहों की विधा रूह में नुरानियत आवे रूह में पाकी आवे रूह में खुशबू आवे रूह नुरानी बने उस सबको जमा कर दिया नबियों की तालीमत में कर दिया आम तौर पर इंसान जो है वो अपने जिसम ही के तकाजों पर सारा लगा देता है जिसम ने जो तकाजा किया गाड़ी का किया मकान का किया फर्नीचर का किया अच्छे कपड़े का किया अच्छे खाने का किया जिसम के तकाजे हैं साठ साल सत्तर साल अस्सी साल खाओ कमाओ पियो मोटे हो खाओ पियो जितना जिसम ताकतवर उतनी अगर जिम जिस्म के तकाजों के पूरा करने के लिए कुरान के हुक्म तोड़े हैं अल्लाह के हुक्म तोड़े हैं तो अल्लाह का हुक्म तोड़ने से रूह तो हो गई कमजोर जिसम हो गया ताकतवर तो फिर जब दो पहलवानों में कुश्ती होती है इसलिए हर आदमी की सुबह से शाम तक रूप और जिसम रूप और जिसम इन दोनों का इन दोनों में कुश्ती तो होती रहती है जिसम तो आदमी का खींचता है दुनिया के सामानों की तरह रूह खींचती है अल्लाह के हुक्म की तरफ और आप सब जानते हो कि जब दो गहलौर में घुटती होती है तो जो ताकतवर होता है वो दूसरे पर काबू पा लेता है उस पर डर लगता है अगर सिर्फ दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में जिसम ही के तकाजों के पूरा करने पर अपनी सारी ताकत लगाई बल्कि इतना नहीं जिसम के तकाजों के पूरा करने पर रूह के तकाजों को भूल गए अल्लाह को भूल गए जो अचल रूह का तकाजा है अल्लाह की जात सिफात पर ईमान अल्लाह ही सब कुछ कोई कुछ नहीं अल्लाह ही से सब कुछ अल्लाह के अलावा किसी कुछ नहीं इसलिए मैंने कहा था ना जब चादर तान ली ने ये क्या किया आपने आप देखते भी हैं वहा सजा जब रात की अंधेरी छा जाती है और बाद रातें ऐसी अंधेरी होती है आदमी को खुद तो अपना हाथ नहीं सिजाई देता बहुत अंधेरा इस संदेह को सुबह के चांदने से कौन बदलता है कसम है उस रात की जो रात की तारीखी को दिन के चांदने से ये बकवास करते हैं मोहम्मद सल्लासम की उनके रब से लड़ाई हो गई मोहम्मद सल्लासम को उनके रब ने छोड़ दिया माँ आपके रब ने आपको छोड़ा है ना आपका रब आपसे नाराज हुआ रब तो ने तो इनको बकवास कलम को तो पता हुआ इतना देंगे इतना देंगे कि आपसे पूछेंगे नदी जी आप राजी हैं आपको राजी करके छोड़ेंगे इतना देंगे इनकी बात तो मैं ना आई नबी के काम करने वालों की ये रहबरी है लोग बहुत बकवास करेंगे बड़ी बातें बनाएंगे ताने देंगे उंगलियाँ और इशारे करेंगे और चाटा बल्कि तोहमतें और इल्जाम लगाएंगे काम करते रहो अल्लाह को याद रखो अल्लाह तुम्हारा बड़ी कुदरत वाला है अल्लाह तुम्हारा बड़ी ताकत वाला है गाँव में आपने कहा था ना मना शब्द निंदा पूर्वक हमसे बड़ी ताकत वाला कौन है जिसने तुमको पैदा किया है वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकत वाला है इसीलिए वहां यह साहब करना चाहते थे इस मेहनत में चलने वाले की नजर जब तक अल्लाह की कुदरत पर अल्लाह के खजानों पर अल्लाह की जात सिफात पर उस वक्त तक बराबर तरक्की करता रहेगा नजरें अल्लाह से हटी अपनी तकबीरों पर अपनी चालाकियों पर अपनी होशियारियों पर अपनी अकल पर ये जितना शुरू हो जाए इसके मानक में ما नाराज हुए हैं न छोड़ा है और सौभ ये तो कुछ खबरियां भी है आगे एहसाना की आपकी राय आप कैसे थे अलम ले दिन अलम ले दिन तो आवा ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى आप क्या आप तो यतीमी की हालत में पैदा हुए थे बाप का सारा हो चुका था और हालत कैसी थी वो आपको ठिकाना देने को तैयार नहीं था आपकी वादा आमना आपको लेकर वहां जाती थी यह हालत का मशहूर रिवाज था ये माए बच्चों को लेकर गुजरत पर दूध पिलाने वाली जो औरतें होती थी औरतें होती थी लाए वहाँ लेकर अरे आमिना वहाँ है और भी बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को ली हुई हर एक ये देखती थी कि इस बच्चे को दूध पिलाएंगे तो इसका बाप कितना मालदार है इसकी माँ क्या देगी इसका खानदान कौन सा है दुनिया के हिसाब से आमिना विवाह है बच्चा है पर आमिना का मसला अजीब है कोई तो आमिना के लाल की तरफ नजर ही उठा के नहीं देख रहा है बच्चों को ले हजरत आमिना भी देख रहे हैं हाँ मेरा गुजर मेरे दिल का टुकड़ा मेरी आंखों का तारा कोई हाथ नहीं बढ़ रहा है ये जो मेहनत है ना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनत चीख चीख के कह रही है दुकानें बुलाती है तो हाजिर भैंस बुला रहे तो हाजिर बैंक बुला रहे तो हाजिर और पैसा बुला रहे तो हाजिर दुबई बुला रहे तो हाजिर कुवैत और सऊदिया रहे तो हाजिर अल्लाह के नबी की मेहनत इसकी दावत के जैसे के लाल की तरफ किसी हाथ नहीं बनते थे क्या ताजिर क्या काटकार क्या मालदार क्या जवान क्या वकील साहब क्या डॉक्टर साहब क्या मनु साहब एक किसे और क्या जाए इसलिए कहा जब अल्लाह किसी की किस्मत जगाना चाहते हैं तो अल्लाह दौलतों को नहीं देखते खानदानों को नहीं देखते और बहुत सारी चीजों को नहीं देखते ये सारी ये सारी सीरत के वाकयात जो हैं ये हमारी रहबरी है सभी ले लेकर जा रही थी हलीमा भी थी वो बहुत गरीब वहाँ कोई गोद में रहने को तैयार नहीं हलीमा की गोद में कोई आने को तैयार नहीं इसको ये क्या खिलाएगी इसके तो अपने बच्चे के लिए भी इसके पास दूध लिए और दुनिया देख रही है कि इसकी तो बकरियां चरने जाती है वो भी भूखी आती हैं कार्य बाद बजा इस्लाम गरीबा सर गरीबा فطوبى तो للغرباء बहुत खुशी की हालत में शुरू हुआ पर एक वक्त आएगा बहुत कस्म हर एक के पास हर चीज के लिए वक्त है हर एक के पास हर चीज के लिए जान माल है जिसके पास जो महंगी सकती है जब दीन का तकाजा आता है मैं बहुत बिजी हूँ मैं बहुत मशगूल हूँ मेरा मौका नहीं है मेरी हैसियत नहीं है जैसे एक आदमी किसी शहर में जा रहे तो शहर में उसका कोई जानने पहचानने वाला नहीं जगह अकेला खड़ा है जा रहे तो कहाँ जा रहे कोई जानने वाला एक वक्त आएगा तो नींद ऐसा होता है भैंसों को दौलतों को हुकूमतों को जमींदारी को कारखानों को और लोहे लकड़ी को तांबे पीतल को पेट्रोल प्लाटिकम को हर एक जाने का दावत दे रहे हैं और लोग अपनी चूक न भी मेरे बेटे भी मेरे पोते भी मेरे नवाबे भी मेरे दामान दीन के तकाजों पर साफ जानते बड़े खुश नसीब हैं बड़े शहादतमंद हैं जो ऐसी कसम कुर्सी की हालत में भाई कोई करे ना करे मुझे तो करना ही करना है कोई मस्जिद के दस में आवे ना आवे मुझे तो कोई तालीम में बैठे न बैठे कोई तस्वीर पढ़े न पढ़े मुझे तो नबी का काम करना ही है इसलिए मैं उनका वाली मुझे वो दौलत दे गए हैं दुनिया दुनिया पे मरती है मेरे पास सबसे बड़ा सरमाया मेरे आका के तारीख और दिन की है अब ईश्वर डालिए हर कलिमा जी कुछ बच्चा तो मिल नहीं रहा था उसे यतीम को ले लू यकीन की हालत में था उस वक्त हजरत ईसा इस्लाम के बाद से कोई नबी कोई पैगंबर कोई अल्लाह का तारुफ कराने वाला आखिरत समझाने वाला अच्छे अमालों पर अल्लाह क्या देंगे गुनाहों की क्या सजा है जन्नत सवाब असाब कुछ बताने वाला था ही नबी बताते थे एक तुम्हारे खानदान और बिरादरों और दौलतों को नहीं देखता वो तो तुम्हारे अंदर ही अंदर कितना है और तो अंदर कौन है कि दिल एक ही है और दिल अल्लाह ने एक ही के लिए दिया है अपने लिए दिया है तूने किसको अंदर बिठाया है अल्लाह की अजमत कितनी है अल्लाह का खौफ कितना है उससे मोहब्बत कितनी है उसको राजी करने का शौक कितना है उसकी नाराजगी का खौफ कितना अल्लाह को अखबार से अल्लाह हलीमा की कोई भी जैसे अभी जमा की जमात है हमारे शास्त्र एक एक जमात करने में कितने पापड़ बेलने पड़े दुबई भेज कर जाऊंगा सोचिया भेज कर जाऊंगा तीन महीने तीन साल का एग्रीमेंट होगा तो करूंगा लेकिन लोन की जमात में चालीस दिन के लिए तो ऐसा है कि तो ये हाँ बड़ी अच्छी कारगुजारी आती है दोनों की जमात की और कैसी कैसी जगहों में नमाज है मुसल है अल्लाह पाक मुझे भी कबूल फरमा दुआ फरमा दी बस मेरी कह रहे हैं कि जा लेकिन वो अलीमा की किस्मत थी और क्यामत तक आने वालों को सबक पढ़ाना था दौलतों को मत देखो और दुनिया भर के सामानों को मत देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है तुम्हें अल्लाह कबूल कर रहे हैं अल्लाह जैसे काम जब शुरू हुआ ना मौलाना मोहम्मद रिया साहब अपने कुरान जब काम शुरू किया तो बड़ी मुश्किल से तीन दिन की जवाब और वो भी कैसी क्या आपका वो तो किताबें पढ़ने से रूप से तो पता चलता है कि इब्तदा में क्या क्या हुआ लेकिन उनका पाक पाक चलाना है हलीमा रजी अल्लाह को चलाना उसको जाके वो गुर्बत को और महंगाई को नहीं देखता तो जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसकी हिदायत में कोई रुकावट नहीं डाल सकता और वो जिसको गुमराह कर दे इसलिए जब पंद्रह दिन के बाद जिबरील अमीन तस्लीम आए थे तो हजूर ने फरमाया तुम आते नहीं हमारे पास प्यारे नबी हमारी हैसियत तो बहुत मुकर्र हम कैसे लंबे दौड़े हम कितने खेतों पर लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर हक नहीं आ सकते सबक बढ़ा दिया पत्ता नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह ने अब अगर तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहते हो अल्लाह चाह ले खुला जगह रिश्ता खुला जगह दुकान खुला जगह कारखाना बोला आदमी से ताल्लुक बोला तुम चाहते हो ना तुम जो चाहते हो वो अल्लाह चाह ले मुझे पहले तुम वो चाह दो जो अल्लाह जो अल्लाह चाहता है कि अल्लाह क्या चाहता है मुझसे मोहब्बत करो मुझ पर ईमान लाओ मुझको मेरी इबादत करो मेरे हुक्म हरकतों को पूरा करो मेरी नाफरमानी से बचो जब अल्लाह जो चाहते हैं वो बंदे चाहेंगे तो बंदों की तो भाई हमारी तो नमाज की ऐसी हमारा तो रोजा भी अच्छा हमारा तो खाना भी करते लेकिन अल्लाह बड़े सफी वो चाहेंगे वो तुम्हारी मुलाना दुनिया भी बनाएंगे आखिरत भी बनाएंगे और सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारे हाथों लाखों इंसानों की भी बनाएंगे और तुम्हारी नस्लों तक के लिए अल्लाह का इबादत खोलेंगे पहले तुम ये तय कर लो इसलिए मैंने कहा ना कि हर इंसान को अल्लाह पाक ने जिस और वो दो का मजमा बनाया नमाज का वही वक्त है साढ़े सात की अजान पढ़ना चाहिए तो एक तरफ जिसम के तकाजे लेकिन बता जाए कि जितने चाहे अच्छे खाने खाओ जितने शानदार इस जिसम की तरफ की एक हद है एक हद पर जाकर ये रुक जाए अब फिर यूँ कहा मैं आदम इस आदम के बच्चे को अकलने का हक क्या है ये सीधे वो बात नहीं करता बिना काम किया रखकर किया उनका तो कब्जीराना चाल चलता है तो जब मैंने सुराबी तो मैं जब सुराबी है मट्टी से बनाया मट्टी की क्या है मेरा अपने सुपरे इसीलिए मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ाब रहमत नमाज पर जो जोर देते थे फरमाते थे नमाज बनाओ फरमाते थे नमाज में कि जैसे यू कहा अल्लाह के अलावा जो कुछ है कुछ नहीं अल्लाह किसी के हाथ में दूसरे की दुकान से कुछ नहीं होता तेरे जैसे से कुछ नहीं होता इसके कारखाने से कुछ नहीं होता ये कहना तो बहुत आसान है मेरी दुकान मेरा पैसा मेरी जॉब मेरी पोस्ट कि नमाज के जरिए अपने आप को पहचानो प्यार में कहा देखना है, दुकान दुनिया को देखना है अरे नमाज में तैयार हो खड़े वहां को तो कहा देखना है सज्जे की जगह वहां अल्लाह में बैठे इसको बताया कि कितना लंबा चौड़ा है अब क्या में कृष्णा ने की है हाँ, यूं है यूं है वो दे यहाँ से चला है तू कुछ नहीं तू मट्टी है मट्टी में मिल जाएगा उस अल्लाह की अजमत और बनाए को दिल में उतार जिसने तुझे मट्टी से बनाया है और फिर एक दिन वो मट्टी में मिल जाएगा अल्लाह अहद अल्लाह समझ इसलिए कह रहे हमारे ये जो दो नंबर है ना पहला नंबर कर्म दूसरा ये सब अगर ये बन गए कर्मा बन गया नमाज बन गई तो आगे के जो चार नंबर है वो इसकी इसकी तालीम के लिए इसकी हिफाजत के लिए और इसको अल्लाह के यहाँ कबूल करा के आखिरत बनाने के लिए चारों नंबर की आगे तक तो बहुत मैं ये कह रहा था कि हर एक को विषम और रूप के साथ जिस रूप के आगे तो पूरे होंगे कायनात की चीजों लेकिन इसकी एक हद है एक हद पर जाकर के असल रूप है जब तक दुनिया में है जो हालात है वो रूह पर अगर इसने और रूह के तकाजे अल्लाह के हुक्म है जो कुरान में है सारा हलाल हराम जायज नाजायज ईमान इबादत अखलाक सब कुरान में बयान कर दिया इसीलिए देखा माँ की सहबत वो बताएंगे वो समझाएंगे ये की दुकान तो से फरियत मिलेगी जलेबी दुकान से तो जलेबी मिलेगी तो रोज वाले की दुकान से गोश्त मिलेगा और दूसरे की दुकान से उलमा की शहादत से अल्लाह वालों की शहादत से उनसे पूछने समझने से कि कुरान अल्लाह के हुक्म अल्लाह को राजी करने का सामान वो उनके उनके पास वो मिले क्या कि के जो तकाते हैं वो अल्लाह के हुक्म है उसकी कोई हद ही नहीं है अल्लाह जितने करे उनका हुक्म इतना उस हुक्म पर मिलने वाला इनाम भी उतना ही बड़ा अल्लाह जितने बड़े उनकी रजा उनकी खुशी उतनी अल्लाह जितने बड़े उनके हुक्म का तोड़ना उतना ही बड़ा गुना उस गुनाह पर पकड़ उतनी ही बड़ी जितने अल्लाह बड़े इसलिए जन्नत दो बताई क्या रूह के जो तकाजे हैं वो उसका ताल्लुक कुरान से कि जैसे जिसम के लिए गुजाए हैं और उसे जिसम बनता है फूलता है फलता है और लेकिन तरफ ये रूप कि आप अच्छा खाए पहने जो रूह तक ही है रूह तक जो जाता है सुधार अल्लाह ये कहा इस अल्लाह की तस्वीर में कितना नूर है कितनी बाकी है वो रूह तक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ेंगे भेद कर जाए तस्वीर ये हर एक तस्वीर पढ़ने वाला बन जाए हर एक कुरान वाले ईमान पर आ जाए हर एक के अखलाक वो हो जाए जो कुरान ने बताए जिसकी तस्वीर और जिसकी तस्वीर मोहम्मद रसुल्ला इसलिए मुतला सहाबा के जमात अम्मा आयशा रजा के पास आई अम्मा जी मोहम्मद फरमाया कुरान तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते हो हम अभी कुरान पढ़ते फरमाया फुल कुरान जो कुरान में है वो आपकी जिंदगी में है आपका कोई सांस कोई हरकत कोई शकलत क्या आपकी रातें क्या आपका दिन क्या आपका खाना क्या आपका घर क्या आपकी मस्जिद क्या अंधेरे में हो गया जो कुरान जो कुरान में है वो आपकी इसीलिए आपको नमूना बताया और हमारे लाल बनाते कि हमारी सारी मेहनत से हर आदमी की अपनी जात के लिए मोहम्मद नमूना हरेक को नमूने पर आना आप निस्वास कैसे करते हैं निस्वास से पहले की दुआ क्या है तो निस्वास कहाँ से शुरू करते गंदी गाड़ी में गंदी कब करते थे सर के बालों की गंदी कैसे करते थे कपड़ा आप कैसे पहनते थे फिर आप नमाज कैसी पढ़ते थे आप अल्लाह से कितना डरते थे इसलिए आपने खुद फरमाया तुम में सबसे ज्यादा तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला भी मैं हूं और तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला भी मैं हूं हर आदमी को इस पर आना है अपनी जात करना अब ये मोहल्ले के गली के ये वकील साहब हैं ये डॉक्टर साहब हैं ये मौल साहब हैं और ये शेर साहब हैं ये तो मजदूरी करते हैं ये बेचारी खातून हैं ये सारे उस नमूने पर आ जाए हर एक की जात हजूर के नमूने क्या ये सारे ये सारे इकट्ठे मिलकर इनकी जिंदगी ऐसी बन जाए इनकी माशरा इनका रहने आना जाना इनका भी बच्चों के का इनका कि उसके लिए मोहम्मद की मस्जिद मुबारक वो नमूना जातों के लिए हजूर की जात नमूना है सारी दुनिया की मस्जिदों के लिए हजूर की मस्जिद नमूना और सारी बच्चियों सारी आबादियों सारे मोहल्लों सारे स्टेटों के लिए मदीना मुनवरा नमूना है जो आपके है कि वहां से सीखना इसलिए मजेदार वहाँ मजेदार वहाँ हमारे लगेज में पंद्रह घंटे सात घंटे हैं दस घंटे खाली बैठना वो निकालना नहीं ये देखना है कि भाई हम दस साल से हमारी मस्जिद में जमा हो जब जमात के बराबर बैठता हूँ तेरा तो उस मशवरे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर उमर और उस्मान और अली होते थे हजरत जैद इब्न साबित होते थे हजरत साद इब्न अबादा साद इब्न महाज हमर इब्न आप बड़े बड़े महाजरीन और अंसार सहाबा होते थे कि मस्जिद और जमात के हर शादी के अंदर में ये हो जैसे ताजिद कहता है मुझे इसके जैसा बनना है वह अपने पास तो बहुत छोटी दुकान है लेकिन बड़ी दुकान एक है साइकिल पर जाने वाला किसी की गाड़ी को देखकर तो अपने अपनी ऐसे रहती है अभी तो टू टायर भी नहीं है टू व्हीलर भी नहीं है लेकिन गाड़ी नजर होती है ना और फिर उसकी कोशिश में लग जाता कि मुझे सिद्धित अकबर वाली जिंदगी पर तो वो जिंदगी क्या एक तो मौके ऐसे आए कि सारी उम्मत को सबक दे दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फौरन कितने शुरू हो गए तो घर के लोगों ने जक़ात देने से इनकार मुसलमान ने नबूवत का दावा किया औरत ने भी किया और चारों तरफ कितने कितने और की रात के वफात रास्ते में जो वफा चला सबसे ज्यादा मोहब्बत तो उनकी पैर मन मन भर के हो रहे जाऊं तो कैसे जाऊं और न जाऊं तो कहां जाऊं जाना तो बुजुर्ग के घर पर ही बहुत मुश्किल से संभाला शरीर शरीफ में आए चेहरे मुबारक से पकड़ान तो पाए आप जब हमारे दरमियान से जब भी आप अच्छे तब भी आपका तो अच्छे सीधे नंबर पर आए मोहम्मद रसूल कदलत में कबल रसूल अब अम्मा का तुम आला आका भी को तो मैं ये लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के मिले रसूल ही तो थे क्या हजूर की वफात पर तुम उनका वाला तो काम छोड़ दे सकते जो छोड़ेगा वो अपना नुकसान करेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा इसीलिए अल्लाह ने भी कहा है कि अगर तुमने छोड़ा तो हम दूसरों को लाएंगे और वो इस यकीन के साथ कि नबी दुनिया से जब पर्दा फरमा लेते हैं तो नबी वाली जिंदगी नबी वाली मेहनत नबी वाला दीन जब नबी वाले यकीन के साथ कुर्बानियों की मिकदार बढ़ाते हुए रातों का रोना बढ़ाते हुए अल्लाह के सामने अपनी आजीजी अपने को महताज समझते हुए करेंगे अल्लाह वही मदद है जो नबी की मौजूदगी में अल्लाह ने सहारा की वो मदद मदद करेंगे इसीलिए उस यकीन के साथ एक ही का कहा था अजुल पसुद्दीन वाला है हजूर के वफात पाते ही जक़ात नमूमत के दावे फिटने ही फिटे मुझे तो मेरी माँ ने कहना ही इसके लिए मैं अपनी आंखों से दीन में कमी नहीं दे सकता ये हमको सबक पड़ा इतने बहुत इस राह में चलने वाले के हरेक के अंदर का जज्बा हो गश्तें पूरी होंगी दोनों होंगी शहरोजा की जमातें बराबर चलेंगी चिल्ले चार महीने बराबर लगेंगे अपने घर में कमाई हलाल की होगी हलाल का रुकना होगा अपने बच्चों की वो बेटों तालीम और तरबियत कि सबसे बड़ी चीज अदब और अखलाक है वो सिखाएंगे और फिर इस दावत से मुताबिक जितने तक आगे आएंगे ये पुराने कहा दिया है तुम्हें क्या हो गया अगर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने को कहा जाता है तो तुम जमीनों को भूल छोड़ जाते हो दुनिया क्या चीज है बुरी आदत है तो, इसीलिए मेरे दोस्तों जैसे हजूर अक्रम सतम ने चाहते हुए विजय अल्लाह पाक से करना था ये इसका वक्त लिए खड़े हो जाइए अल्लाह अल्लाह ही की बड़ा रब ही की बड़ाई जान ऐसे ही इस वक्त में चारों तरफ से जितनी बातें हो जितने हालात हो और जैसी हो हमें इस यकीन के साथ कि मेरे घर की सुई ताले की जरूरत से लेकर मेरे जन्नत के दाखिले और जहनम से बचने तक का और सिर्फ मेरा नहीं पूरी उम्मत का और उम्मत के जरिए पूरी बशरियत का सामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं जिनका हम नबी के काम को अपना काम बनाएंगे नबी वाले उसूलों के साथ नबी वाले नहज पर नबी वाली कुर्बानियों की साथ और आंखों बढ़ाते हुए आहे बढ़ते हुए अल्लाह अपनी कुदरत का उजारा करेंगे इसलिए कि नबी आते हैं रूहों की तरबियत का सामान लेकर रूहों के अतिवार से इंसानों में बदतरीन इंसान इंसानों में बदतरीन इंसान वो सहाबा की जमात थी जो जो इस्लाम से पहले थे उनसे ज्यादा तो बुरा नहीं लेकिन इस मेहनत ने और हजूर की खैरवाही ने और उसने दुनिया का बेहतरीन इंसान बनाया कि जो बनना चाहे जो अपनी आखिरत बनाना चाहे जो अल्लाह को राजी करना चाहे जो अपनी रूह को नुरानी और पाकिजाना बनाना चाहे इसलिए बाद ये जिसम को मुक्ति हो जाएंगे आखिरत में जो जिसम मिलेंगे जन्नतियों को जन्नतियों को वो रूहों के काले और नूरानी रूहों के पाप और नापाक रूहों के खुशबू खुशबूदार और बदबूदार होने के आधार से मिलेंगे मरना आपको भी मरना मुझे भी मरना एक को है और मामला असल रूह का है सामान उसका मोहम्मद तरबियत है और उस तरबियत के जो उसूल है जब उनके उसूलों पर उनके वाले लहर पर अल्लाह हमारे बुजुर्गों के खबरों को मुंह से मुनावर बनाए उन्होंने उसी कुरान हदीस की रोशनी में हमको ये सादा सिंपल आसान सा काम दिया है जो करेगा वो पालेगा बाद में करूंगा बाद में करूंगा ये शैतान का मशवरा है फिर करेंगे शैतान है और दूसरा कम सल्लाम का मशवरा है बाद जल्दी करो जल्दी करो है अब हिम्मत करके फरमाओ अपना दिमागी है हर मस्जिद से क्या महीने की जमातें रहती है सबसे पहले तो ये मजमा अपने बारे में फैसला करो